नमस्कार मित्रों मेरा नाम है राहुल चिमनमय मेहता मैं संक्षिप्त परिचय दूं मैंने 1990 में बीटेक किया आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस में उसके बाद मैं अमेरिका में पढ़ा दो साल आई कंप्यूटर साइंस में मैंने मास्टर्स किया उसके बाद मैंने वहां सात साल कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया अभी भी कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं और मैं पिछले बारह तेरह सालों से राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ तो अभी ये जो संक्षिप्त दस मिनट का वीडियो बना है वो है ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर आज तारीख है 8 जनवरी 2012 और ये ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर वीडियो है तो ये ट्रांजैक्शन टैक्स की बात मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ 1992 में मैंने सबसे पहले ट्रांजैक्शन टैक्स की बात सुनी थी और तब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे ट्रांजेक्शन टैक्स का ड्राफ्ट दो ड्राफ्ट यानी आप किसी भी सीए की ऑफिस में जाइए या बीकॉम स्टूडेंट से भी पूछिए तो बताया बताएगा कि भाई इनकम टैक्स की पूरी 400 पेज की किताब है टैक्समैन नाम का एक पब्लिशर है और उसमें से 400 के 400 पेज काम के हैं मैंने वो पढ़ी है वो किताब उसमें देखा कि भाई नहीं ये ये ऐसा नहीं है कि बकवास लिखा है उसमें इतने सारे लॉज है बायलॉज है और वो बायलॉज आप बोल सकते हो कि ये कानून निकाल दो निकाल दो पर उसमें वो ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये सब बिना फिजूल की तो मैंने ट्रांजेक्शन टैक्स वालों से बोला कि भाई आपका जो भी 5, 10, 50 पेज का ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट हो तो 1992 में बोला था कि हाँ बस दे देंगे तीन महीने में छह महीने में ड्राफ्ट अभी तैयार हो रहा है अब इस बात को 20 साल हो गए तो मुझे लगता है वो अगले जन्म में ड्राफ्ट देंगे ऐसा ही लगता है जो भी हो अगले जन्म में दे या न दे लेकिन अभी तक उन्होंने ड्राफ्ट नहीं दिया और ड्राफ्ट की न देने की वजह से आप ट्रांजेक्शन टैक्स के प्रशंसकों से पांच प्रश्न पूछो मैं अभी वो प्रश्न आपके सामने रखूंगा तो प्रश्न पे वो पांच अलग अलग जवाब देंगे और उससे पता नहीं लगता कि ये ट्रांजेक्शन टैक्स में किस तरह से टैक्स की गिनती होगी ट्रांजेक्शन टैक्स वाले कह रहे हैं कि वो सौ पांच सौ हजार की नोट बंद कर देंगे चलो बंद कर देंगे वो तो आसान काम है और उसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ दूसरा वो बोलते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन जो चेक से होंगे उस पर वो आधा परसेंट या दो परसेंट टैक्स लगाएंगे उस पर भी मैं बहस नहीं करूंगा आधा परसेंट बोले एक परसेंट बोले दो परसेंट बात क्लियर है जो भी पर अब मुझे मैं जब उन्हें सवाल पूछता हूं तो अलग अलग जवाब मिलते हैं मैंने बोला कि भाई एक बाप अपने बेटे को हॉस्टल में पढ़ रहा है उसका बेटा उसने दस हजार का चेक भेजा तो उस पर क्या दो परसेंट टैक्स लगेगा लगाओ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे बताओ तो उसे कम से कम लगेगा या नहीं लगेगा तो अलग अलग जवाब आता है क्योंकि ये तो फैमिली ट्रांजेक्शन है मैंने कहा बैंक वाले को कैसे पता चलेगा कि ये फैमिली का है या फैमिली के बाहर का है आप क्या अलग अलग पूरा लिस्ट बनाओगे तो जो भी है पर ड्राफ्ट तो, तो मुझे बैंक वाला कैसे तय करेगा कि इस पर मुझे दो परसेंट नहीं लगाना है और कुछ कुछ बोलते थे हाँ इस पर भी लगेगा तो अलग अलग जवाब आ रहे हैं क्यों क्योंकि ट्रांजेक्शन टैक्स के मानने वालों में क्लैरिटी नहीं है कि उनका ट्रांजेक्शन टैक्स क्या है न उनको कभी डिटेल में बताया गया और न उन्होंने डिटेल में पूछा गलती दोनों साइड की है जो ट्रांजेक्शन टैक्स के अर्थक्रांति वाले हैं वो कभी डिटेल में बताते नहीं है और मैं कहूंगा कि गलती सुनने वाले की भी उसे डिटेल में पूछना चाहिए तो ये पहला प्रश्न कि बाप ने बेटे को चेक भेजा तो टैक्स लगेगा और दूसरा प्रश्न कि मैं मान लो बिजनेस चलाता हूं और बैंक ने मुझे लोन देने से मना कर दिया अधिकतर बिजनेसमैन को बैंक लोन नहीं देते वो प्राइवेट फंडिंग पे चलता है अधिकतर आपके रिश्तेदार में जितने भी बिजनेस में आप पूछ लीजिए प्राइवेट फंडिंग पे ही आधा हिंदुस्तान चल रहा है तो मैंने अपने किसी रिश्तेदार से एक लाख रुपया लिया और एक महीने बाद मैंने उसको एक प्रतिशत इंटरेस्ट के साथ एक लाख एक हजार लौटा दिया तो अब दो परसेंट टैक्स दो लाख एक हजार पे लगेगा एक लाख पे लगेगा या सिर्फ एक हजार पे लगेगा तो आप ये सवाल पूछोगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप दस लोगों से पूछोगे आपको तीन अलग अलग जवाब मिलेंगे एक कहेगा कि सिर्फ एक लाख पे दो परसेंट यानी दो हजार रुपया टैक्स लगेगा दूसरा कहेगा कि नहीं एक लाख और दूसरा ट्रांजेक्शन एक लाख एक हजार यानी दोनों पे दो दो परसेंट टैक्स लगेगा यानी कुल चार हजार टैक्स लगेगा और तीसरा कहेगा कि नहीं सिर्फ एक हजार पे टैक्स लगेगा दो परसेंट यानी सिर्फ बीस परसेंट टैक्स लगेगा तो पहले आप बताओ कि टैक्स कितना लगेगा उसके बाद बताओ कि आपका ड्राफ्ट क्या है जिसके लिए इम्प्लीमेंट होगा यदि आप ये शॉर्ट टर्म लैंडिंग बोलते हैं और हिंदुस्तान का आधा बिजनेस इवन बड़े बिजनेसमैन रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भी शॉर्ट टर्म लैंडिंग करती है और छोटे बिजनेसमैन तो आए दिन करते रहते हैं क्योंकि उनको बैंक लोन देते नहीं है उनके पास वो इतने कागजात नहीं होते ये कागज लाओ वो कागज लाओ तो वो अपने रिश्तेदार से करीबी दोस्तों से शॉर्ट टर्म लैंडिंग पे उनका पूरा काम चलता है तो यदि दो परसेंट या तीन परसेंट पर मंथ इंटरेस्ट होता है कुछ कुछ गलत लोग होते हैं जो कि दस परसेंट इंटरेस्ट लेते हैं पर मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करता हूं तो उनमें दो तीन परसेंट का इंटरेस्ट होता है पर मंथ तो यदि एक लाख तीन हजार के ट्रांजेक्शन पे आप यदि चार हजार रुपया टैक्स लगाओगे या एक हजार रुपया भी टैक्स लगाओगे तो पूरा शॉर्ट टर्म लैंडिंग का धंधा बैठ जाएगा और शॉर्ट टर्म लैंडिंग का धंधा बैठ गया तो यूं समझो कि इंडिया की आधी इकोनॉमी बढ़ गई छोटे लोगों की कम से कम बड़े कॉर्पोरेशन को प्रॉब्लम नहीं उनमें तो बैंक सामने से आके लोन देंगे तो क्या आप ये ट्रांजेक्शन टैक्स है कि भाई शॉर्ट टर्म लैंडिंग पूरा बंद हो जाए तो तो पूरे देश में मल्टीनेशनल कंपनियों का राज आ जाएगा ये छोटे बिजनेसमैन है वो सबके दुकान धंधे बंद हो जाएंगे हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है आप क्लियर तो करो कि क्या है उसके बाद मैं पूछता हूँ कि भाई ट्रांजेक्शन टैक्स कितना होगा तो दो परसेंट पर दो परसेंट हर एक लेवल पे लगेगा ना किसान ने गेहूं बेचा मंडी में गांव की मंडी में मंडी वाला आके शहर की मंडी में बेचेगा शहर की मंडी वाले ने आके गेहूं के होलसेलर को बेचा होलसेलर वाले ने रिटेलर को बेचा रिटेलर वाले ने बेकरी को बेचा बेकरी ने ब्रेड बना के वो दुकान को बेची दुकान ने कस्टमर को बेची यानी गेहूं से ब्रेड जैसी सिंपल कॉमोडिटी ब्रेड तो बहुत सिंपल कॉमोडिटी है उसमें आठ लेवल आ जाते हैं यदि हर एक लेवल पे दो दो परसेंट लगेगा तो टैक्स सोलह परसेंट नहीं तो कम से कम बारह ग्यारह बारह परसेंट जितना अब 12 परसेंट होता हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर कम से कम क्लियर तो करो कि हर एक लेवल पे लगने वाला है ट्रांजेक्शन टैक्स तो ट्रांजेक्शन टैक्स 2 परसेंट नहीं हुआ एंड लेवल पे जाके 12 परसेंट हो गया और वो ब्रेड जैसी कॉमोडिटी में मैं आपको दूसरी कॉमोडिटी का एग्जाम्पल दू की मोबाइल फोन है मोबाइल फोन के अंदर जो चिप है इसके चिप में तो पचास लेवल होती है रेत से लेके ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में आया उसके बीच में वो जो सिलीकन चिप है वो पचास व्यापारियों और फैक्ट्रियों के से गुजरती है आ, आ, एक कार आपने खरीदी तो कार का जो टायर है वो रबर के बागान में लिक्विड रबर जो मिलता है वहां से लेके कार फैक्ट्री में से टायर बाहर आते उसके बीच में 50 छोटे मोटे व्यापारी और फैक्ट्री आ जाती है यदि हर एक लेवल पे दो दो परसेंट लगने लगा तो बेस प्राइस का सीधा 50 से 100 परसेंट जितना टैक्स हो जाएगा जो कि वो प्रॉब्लम वैट में नहीं होता वैट में नियम मैं वैट के खिलाफ हूं पर वैट में एक गारंटी होती है कि टैक्स कभी 12 परसेंट से नहीं बढ़ेगा क्यों नहीं बढ़ेगा कि मैंने यदि सौ रुपए की चीज खरीद के यदि उसके 50 150 में बेची तो मुझे 12 परसेंट भरना है किसका सिर्फ 50 रुपए का वैट का नियम बहुत क्लियर है कि आपने जितना एड ऑन किया सिर्फ उसी का 12 परसेंट भरना है बेस प्राइस का नहीं और सेलिंग प्राइस का नहीं वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है तो ट्रांजेक्शन टैक्स में हर एक परसेंट लेवल पे दो परसेंट लगेगा तो फाइनल लेवल का तो पचास परसेंट हो जाएगा वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है पर मुझे क्लियर बताओ कि भाई कितना लगेगा और इसमें सबसे जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्शन वो ये है कि यदि इस तरह से ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा तो सारी इकोनॉमी वो बड़ी कंपनियों के हाथ में आ जाएगी कैसे कि एक कंपनी है जिसके पास अपने गेहूं के खेत है उसके पास अपनी आटा बनाने की फैक्ट्री है उसके पास अपनी ब्रेड बनाने की फैक्ट्री है उसकी अपनी ब्रेड की दुकान है सुपर मार्केट है तो उस कंपनी में ट्रांजेक्शन टैक्स कितना लगेगा सिर्फ दो परसेंट जब उसने ब्रेड बेची और दूसरी तरफ दस छोटे आदमी है किसान है उसके पास सिर्फ खेत है उसने गेहूं मंडी में बेचा मंडी वाले के पास बेकरी नहीं है मतलब आटा बनाने की फैक्ट्री नहीं है उसने गेहूं बेचा आटा बनाने वाले को आटा बनाने वाले बेकरी नहीं है उसने गेहूं बेचा बेकरी बनाने वाले को बेकरी वाले के पास दुकान नहीं है उसने ब्रेड बना के बेचा दुकान वाले को दुकान कस्टमर को बेचा तो जो छोटे लोगों का नेटवर्क है उसमें तो पांच सात लेवल आ गए तो उनको ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा चौदह परसेंट तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे मतलब यदि ट्रांजेक्शन टैक्स दो परसेंट वाला कानून है हर एक लेवल पे तो ये कानून से साफ दिख रहा है कि इसमें बड़े आदमी जिसके पास बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है उसको फायदा होगा और छोटे आदमी जो अलग अलग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो सब उनके उनपे टैक्स का बर्डन सीधा मल्टीपल में आ जाएगा दो परसेंट के बजाय सीधा दस परसेंट या बीस परसेंट आ जाएगा तो अब मुझे बड़ी कंपनी को जेन्यून फायदे हो रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट बड़ी कंपनी है बड़ी कंपनी इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा प्रोडक्ट बनाने के लिए हम 500 प्रोग्रामर चाहिए तो जाहिर है छोटी कंपनी नहीं बना पाएगी तो वो उसकी साइज की वजह से उसको जेन्यून फायदा हो रहा है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर एसेट टैक्स के कानून जो कि बड़ी कंपनी को दो परसेंट टैक्स लगावे और छोटे प्लेयर है उनके ऊपर टोटल टैक्स बढ़ के पंद्रह परसेंट हो जाए तो मैं ऐसे टैक्स के कानून को पसंद नहीं करूंगा कि जो बड़े कंपनी को गलत फायदा पहुंचा जो इकोनॉमी है मार्केट है मार्केट में यदि टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस की वजह से यदि बड़ी कंपनी को कोई फायदा हो रहा तो मुझे कोई एतराज नहीं है पर ऐसा टैक्स का कानून नहीं होना चाहिए जो कि बड़ी कंपनी को कम टैक्स लग जिसकी वजह से बड़ी कंपनी को कम टैक्स लगे और छोटी कंपनी को ज्यादा टैक्स तो ये मैंने ट्रांजैक्शन टैक्स का मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि पहले तो ड्राफ्ट मांगिए वो पिछले 20 साल से छह छह महीने की डेट डाल रहे हैं मतलब ये तो भारत की अदालतों से भी ज्यादा खराब हो गया भारत की अदालतें भी इसी तरह से करती है वो जज बोलते हैं हाँ, बस तीन महीने में जजमेंट आ जाएगा तीन महीने तीन महीने करके करके पर फिर भी सेवेंटी एटी परसेंट के केस में पांच साल में तो जजमेंट आ जाता है ये तो तीन तीन महीने का डेट लगा के बीस साल निकाल दिया और अभी तक अर्थक्रांति वालों ने ड्राफ्ट नहीं दिया तो आठ क्रांति वालों से कहो कि भाई तीन महीने में दोगे छह महीने में दोगे नौ महीने में दोगे या अगले जन्म में दोगे ये चार ही ऑप्शन दो उनको ज्यादा ऑप्शन मत दो और यदि वो छह महीने के अंदर ड्राफ्ट नहीं दे सकते तो मैं कहूंगा उनके पास ड्राफ्ट ही नहीं है वो बकवास कर रहे हैं अब दूसरा कि यदि ये कानून आ गया तो मैं ज्यादा इसलिए चिंता नहीं करूंगा कि कानून इस तरह से दो परसेंट का आता है तो तीन महीने में इतना बवाल खड़ा हो जाएगा कि कानून कैंसिल करना पड़ेगा इसलिए ये दो परसेंट में प्राइवेट लैंडिंग पूरा बंद हो जाएगा फिर वो बोलते हैं कि बैंक के पास इतना पैसा आएगा कि प्राइवेट लैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अरे भाई बैंक के पास पैसा हो या ना हो आज की तारीख में भी बैंक के पास पैसा होता है तो भी वो छोटे बिजनेसमैन को पैसा नहीं देते क्यों क्योंकि उनके लैंडिंग के रूल ऐसे कि ये कागज लाओ वो कागज लाओ और छोटा आदमी उसके पास ऐसे सारे कागज नहीं होते आपको इंडिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास घर है लेकिन घर अभी तक उनके नाम पे नहीं हुआ क्यों क्योंकि उनके फादर के नाम पे था फादर की डेथ हो गई है और उनके जो दो पांच भाई है वो कोर्ट में झगड़ रहे हैं कि घर किसके नाम पे ट्रांसफर हो तो उस आदमी के पास घर ही नहीं है तो गिरवे क्या रखेगा गिरवी नहीं रख सकता तो बैंक उसको लोन नहीं दे सकती इसलिए वो प्राइवेट लैंडिंग में जाता है तो बैंक के पास आज बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनके पास पैसा है वो, वो कस्टमर ढूंढ रहे हैं कि आओ और लोन ले जाओ लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं छोटे लोग हैं वो लोन के लिए क्वालिफाइड नहीं होते तो अर्थक्रांति की यह तरफ कि पैसा इतना हो जाएगा कि प्राइवेट लैंडिंग की जरूरत पड़ेगी ऐसी बात नहीं है प्राइवेट लैंडिंग की जरूरत तो पड़ेगी और मान लो नहीं पड़ी तो साल दो साल लेकिन वो साल दो साल के अंडर क्या होगा कानून मान लो दो परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स आया एक अप्रैल बारह एक अप्रैल बारह तो मैं बोलता हूँ दो अप्रैल बारह को क्या होगा ये मत बताओ कि मुझे पांच साल बाद क्या होगा दस साल बाद क्या होगा दो साल ये बताओ कि भाई अब दो अप्रैल बारह के दिन क्या होगा उस दिन तो शॉर्ट टर्म लैंडिंग खत्म हो गई यानी शॉर्ट टर्म लैंडिंग खत्म यानी छोटा बिजनेसमैन तो डूब गया अब एक साल बाद क्या होगा दो साल बाद वो डूब के तैयार क्या आएगा वो मुझे नहीं सुनना आप ये बताओ कि दो दो अप्रैल 2012 को क्या होगा दो अप्रैल 2012 को यही होगा कि जो लोग शॉर्ट टर्म लैंडिंग पर डिपेंडेंट है वो सब डूब जाएंगे तो इतना बवाल खड़ा हो जाएगा कि ये कानून कैंसिल करना पड़ेगा एक महीने में ये कानून कैंसिल करना पड़ेगा खैर एक बार जब ड्राफ्ट आ जाएगा मेरे हाथ में तो फिर मैं ज्यादा नॉलेजेबल बात कर सकता हूँ जब तक मैं ड्राफ्ट नहीं दे जब तक वो ड्राफ्ट नहीं देता तब तक तो मैं यही कहूंगा कि हाँ चलो भाई आप भी हवा में बात करो और मैं भी आप जो हवा में बात कर रहे हो उसके आधार पे मैं ऑब्जेक्शन निकाल के बोल रहा हूं तो ये कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं है एक बार ड्राफ्ट आने का मैं इंतजार करूंगा अब दूसरा सवाल आता है कि ट्रांजेक्शन टैक्स नहीं तो क्या कानून होना चाहिए तो उसके ऊपर मेरा एक घंटे का वीडियो है यूट्यूब पे है उसका टाइटल है टैक्सेशन के ऊपर taxation inheritance tax and wealth tax मैं इनहेरिटेंस टैक्स और वैट टैक्स में बिलीव करता हूं मतलब कि ट्रांजैक्शन टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए पर वैट भी नहीं होना चाहिए एक्साइज नहीं होना चाहिए कस्टम होना चाहिए कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए स्वदेशी को बचाने के लिए सेल्स टैक्स निकल जाना चाहिए ऑक्ट्रॉय तो अब निकल ही गया पर वो भी थोड़ा बहुत है तो निकल जाना चाहिए इनकम टैक्स कम करना चाहिए और जितना हो सके उतना वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स से काम कराना चाहिए वो मैंने अपने एक घंटे के यूट्यूब वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है धन्यवाद